मैं इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट के दरवाजे पर ही खड़ा हूँ विक्रांत ने अपने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से दरवाजे को धकेलते हुए कहा वो काफी कंफ्यूजन में था यह एंटी थेप्ट डोर अचानक से ऑटोमेटिक खुल गया दरवाजा खुलते ही वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ रोशन उसके सामने सूट पहने खड़े थे रोशन ने भी अभी तक फोन अपने कान पर लगाया हुआ था वो भी विक्रांत को देखकर अचानक से चौंक पड़े अरे मिताली मैडम सही कह रही थी तुम तो वाकई में शेरलक होम्स हो अभी आने को कहा और अभी तुरंत यहां पहुंच भी गए हम्म विक्रांत उनकी तरफ देखता रह गया और इसी हड़बड़ी में वो फोन रखना भी भूल गया अंदर आओ जल्दी अंदर आओ अगले ही सेकंड रोशन ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा और फिर जैसे ही विक्रांत अंदर पहुंचा उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया क्या हुआ सर कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे थे आप जल्दी बताइए ऐसे घबराहट हो रही है मुझे विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा जैसे ही विक्रांत अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर ब्यूरो चीफ मिताली भी खड़ी उसकी तरफ देख रही थी अरे घबराने की जरूरत नहीं है अंदर आ जाओ बैठो रोशन मल्होत्रा ने विक्रांत के आगे चेयर करते हुए उसे बैठने का इशारा किया विक्रांत बधाई हो मैंने तुम्हें यहाँ पर खुशखबरी देने के लिए बुलाया है ब्यूरो चीफ मिताली ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो मैं तुम्हें अभी सब कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ बाद में तुम डिटेल में पढ़ लेना रिपोर्ट देखो ऐसा है तुमने वो इगतपुरी के जंगल में खजाना ढूंढा था ना तो अब पुलिस डिपार्टमेंट और पुरातत्व विभाग ने मिलकर उस पूरे केस को सेटल कर लिया है दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर अपनी रिपोर्ट नेशनल ट्रेजर डिपार्टमेंट के पास भेज दी है क्योंकि वो पूरा खजाना तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर खोजा था ऐसे में नेशनल ट्रेजर डिपार्टमेंट ने तुम्हें इनाम देने की घोषणा की है ओहो विक्रांत को हल्की खांसी आ गई वो मनी मन सोचने लगा यार यहाँ मेरी जान अटकी पड़ी है और मुझे किसी खतरे की आशंका हो रही है और यहाँ ये लोग इनाम मिलने की सूचना दे रहे हैं इसके बाद ब्यूरो चीफ मिताली ने एक फाइल निकाली और इसके पन्ने पलटते हुए बोली देखो मैं अभी इसे पूरा पढ़ने नहीं जा रही हूँ लेकिन इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसका समरी बता रही हूँ तुम्हें इसमें लिखा गया है कि विक्रांत सक्सेना डीएन नगर ब्रांच के डिटेक्टिव ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए इगतपुरी के जंगल से राष्ट्रीय संपदा यानी कि खजाने को ढूंढा है उनके इस बहादुरी भरे काम के लिए राष्ट्रीय संपदा विभाग द्वारा विक्रांत सक्सेना को कुल तीन करोड़ अट्ठानवे लाख और पैंतालीस हजार रूपए बतौर इनाम राशि दी जा रही है इतना पढ़ने के बाद ब्यूरो चीफ मिताली ने फाइल नीचे रख दिया और वो विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी oh thank you thank you Vikrant ने फॉर्मेलिटी करते हुए कहा लेकिन इससे अगले ही पल अचानक से उसके दिमाग में कुछ करंट सा लगा एक मिनट क्या कहा आपने अभी इतने पैसे इनाम में मिल रहे हैं तीन करोड़ अट्ठानवे लाख और पैंतालीस हजार मिताली ने विक्रांत के हाथ में फाइल पकड़ा दिया विक्रांत ने तुरंत ही उस फाइल में लिखे अमाउंट को ध्यान से पढ़ा वाकई में उसमें तीन करोड़ अट्ठानवे लाख पैंतालीस हजार का अमाउंट लिखा हुआ था विक्रांत को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था इतना बड़ा अमाउंट शायद उसने आज तक कभी देखा भी नहीं था अबे मैं मैं पागल ये सपना तो नहीं है मैं मैं नींद में तो नहीं है मुझे पिंच करो पिंच करो मुझे विक्रांत कुर्सी से उठकर पागलों की तरफ उछलने लगा उसने ब्यूरो चीफ मिताली को पकड़कर झकझोरना शुरू कर दिया उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा पहले भी उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए इनाम मिल चुका था ऐसे में उसे दोबारा से इसके लिए इनाम मिलने की उम्मीद नहीं थी और अगर इनाम मिलता भी तो उसे बस कुछ लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी इतने ज्यादा पैसे तो उसने आज तक अपनी आंखों से भी नहीं देखे थे इतने ज्यादा पैसे मैं खर्च कैसे करूंगा क्या करूंगा इतने पैसों का इस वक्त विक्रांत के दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे विक्रांत ये सब पैसे तुम्हारे तुम ये सब डिजर्व भी करते हो ब्यूरो चीफ मिताली ने बेहद खुश होते हुए कहा तुमने इतने बड़े खजाने को चोरों के हाथ लगने से बचाया है और अपनी लाइफ तक खतरे में डाल दिया था देखो तुम्हारे कांड से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत खुश है मैं खुद ऊपर बात करके तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनाम दिलवाने की कोशिश करूंगी thank you madam thank you Vikrant खुशी से झूम रहा था उसने इसी खुशी के जश्न में आकर जोश जोश में मिताली सिन्हा के गालों पर किस भी कर लिया जिससे वो थोड़ी असहज हो उठी हालांकि उन्होंने विक्रांत की खुशी में कोई दखल नहीं डाला देखो विक्रांत ये इनाम की राशि बहुत बड़ी है और आज तक किसी पुलिस वाले को इतने पैसे इनाम में नहीं मिले हैं इसलिए हाई कमान ने डिसाइड किया है कि ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच रहेगी सो ये इनाम मिलने की बात तुम्हें बाहर किसी को बताना नहीं है और हाँ इनाम की राशि लेने के लिए आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी साइन करना होगा तभी आप इसे ले सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ रोशन मल्होत्रा ने विक्रांत को समझाते हुए कहा किसी को नहीं किसी को नहीं टेंशन ही मत लीजिए सर आप किसी को पता नहीं चलेगा <laughs> और मैं हर डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ बताइए कहाँ करना है साइन विक्रांत इतना खुश था कि जोश जोश में रोशन को भी किस करने के लिए बढ़ गया था लेकिन किसी तरह से वो हटकर पीछे हो गए एक बार मेरा काम खत्म हो जाए फिर आप दोनों के लिए जबरदस्त पार्टी दूंगा मैं जो खाना है जो पीना है बताओ मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ विक्रांत खुशी के मारे गीत भी गुनगुना रहा था विक्रांत तुम बाहर थोड़ा नॉर्मल रहो ऐसे पैसे का दिखावा करोगे तो फिर लोगों को शक हो जाएगा देखो तुम्हारे काम की तारीफ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हो रही है तो कोशिश यही करो कि हमेशा तारीफ हो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम्हारा या डी नगर ब्रांच का नाम खराब हो मिताली ने विक्रांत को समझाते हुए कहा अरे आप टेंशन ही मत लीजिए मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा मैं पूरा ध्यान रखूंगा <laughs> खुशी के मारे विक्रांत की हंसी ही नहीं रुक रही थी फिर रोशन मल्होत्रा ने विक्रांत के आगे कुछ पेपर बढ़ाते हुए कहा देखो विक्रांत ये अमाउंट बहुत बड़ा है तो ये तुम्हें ऐसे डायरेक्टली ही नहीं मिल जाएगा इसके लिए तुम्हें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इस पेपर पर तुम पहले अपना साइन करो फिर ब्यूरो चीफ मिताली मैडम का साइन होगा और फिर उसके बाद पेपर पुलिस हेडक्वार्टर जाएगा वहां से चीफ का साइन लेना होगा और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएगा और सब अप्रूवल मिलने के बाद ये पैसे तुम्हें दिए जाएंगे लेकिन तुम टेंशन मत लो मिताली मैडम ने सबसे बात कर ली है और सब लोग सीक्रेटली इस पेपर पर साइन कर देंगे oh thank you sir thank you madam Vikrant ने खड़े होकर उन दोनों को सैल्यूट करते हुए कहा इसके बाद विक्रांत ने रोशन मल्होत्रा के दिए हुए पेपर पर अपना साइन कर दिया और फिर तुरंत ही ब्यूरो चीफ मिताली ने भी पेपर पर अपना साइन कर दिया इसके बाद विक्रांत वहां से निकलकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा रास्ते में जाते वक्त अभी भी उसके मन में इतने सारे पैसे मिलने की खुशी उमड़ रही थी तीन करोड़ अट्ठानवे लाख लगभग चार करोड़ रुपए हैं इतने सारे पैसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं इतने पैसे तो मैंने अपने पिछले जन्म में भी कभी नहीं देखे थे क्या करूं इन पैसों का एक गाड़ी ले लेता हूँ ऑडी लूंगा इस बार लेकिन गाड़ी नहीं घर घर ज्यादा सही रहेगा ऐसे रेंट के घर में कब तक रहूंगा एक नया घर ले लेता हूँ बढ़िया सा सी फेसिंग आ, फिर मजा आएगा जब नैना वापस लौट कर आएगी तो ये सब देख कर दंग रह जाएगी वैसे अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं नैना से शादी की बात कर सकता हूँ लगभग चार करोड़ है ये और इससे पहले जो कमाए हैं वो सब मिलाकर कुल एक करोड़ तो होगा ही पाँच करोड़ रुपए कम नहीं होते बहुत होते हैं और अब जब मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए हैं तो फिर मुझे ऐसे अपनी जान खतरे में डालकर चोरों और मर्डरर को पकड़ने की क्या जरूरत है क्यों मैं फालतू में उस मेहता सिस्टर्स के मर्डर केस के पीछे हैरान हो रहा हूँ वो तो केस भी मेरे डिपार्टमेंट के नहीं है फिर भी क्यों अपनी जान खतरे में डालू मैं अब नहीं करूंगा अब किसी केस पर काम नहीं होगा बस जो सिंपल काम रहेगा वो करूंगा ताकि नौकरी चलती रहे इतने पैसे हो गए अब बस इसे आराम से बैठकर खर्च करूंगा मेरा मकसद तो पैसे ही कमाना था ना अब जब इतने पैसे आ गए हैं तो फालतू में जान खतरे में डालकर काम करने की क्या जरूरत विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका ध्यान आज के मिले कोडवर्ड पर गया विक्रांत को अच्छे से याद था कि उसे अदृश्य शक्ति द्वारा आज पृथ्वी कोडवर्ड दिया गया था और इस कोडवर्ड का मतलब ही किसी की मौत से था इस वजह से आज सुबह से ही विक्रांत काफी डरा हुआ भी था लेकिन इस कोडवर्ड ने तो विक्रांत को इकट्ठे चार करोड़ रुपए दिलवा दिए विक्रांत को आश्चर्य हो रहा था वो सोच रहा था कि पैसे दिलाने वाला कोडवर्ड तो चंद्रमा है और वो तो आज मिला नहीं अगर चंद्रमा मिला होता तब तो इस पैसे की उम्मीद की जा सकती थी लेकिन पृथ्वी कोड वर्ड पर भी पैसे अभी विक्रांत ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा उसने फोन निकाल कर देखा तो पता लगा कि ये ऑफिस से सुनिधि की कॉल थी लेकिन विक्रांत चूंकि ऑफिस पहुंच चुका था तो उसने फोन पिक नहीं किया बल्कि फटाफट कदम बढ़ाते हुए ऑफिस के भीतर दाखिल हो गया ये टीम लीडर डिटेक्टिव विक्रांत है ना ऑफिस के भीतर काफी भीड़ लगी हुई थी और वहां भीड़ में से किसी की आवाज सुनाई पड़ी इसके बाद कुछ लोग अपने हाथों में कैमरा और माइक लेकर विक्रांत की तरफ दौड़ पड़े ये सब लोग विक्रांत को अपने कैमरे के लेंस में कैद करने की कोशिश कर रहे थे सब लोग विक्रांत की फोटो खींचने में लगे हुए थे कुछ लोग विक्रांत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने लगे क्या है ये कैमरे के फ्लैश से अपनी आंखों को बचाने के लिए विक्रांत ने इसे अपने हाथों से ढक लिया फिर मन ही मन सोचने लगा मिताली मैडम और रोशन मल्होत्रा ने तो धोखा कर दिया मेरे साथ उन्होंने मुझे तो बात छुपा कर रखने के लिए कहा था तो फिर तुरंत ही उन्होंने खुद मीडिया को क्यों इन्फॉर्म कर दिया मेरे पीछे मीडिया क्यों भेजा इन्होंने